सुने सीलिन्धु सुनी भूर्यानुसमे राखिरि पूजन चलि समे ग रामते हि काला अनुरागे दण्ड प्रण करण प्रबुला गे मुनिपरारे उरला का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्मधुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले प्रेम पुल के वट कहना के नोरी दंड प्रणाम राम सखारे से बर बस भेटा जनु महिलुत सनेह सवेटा रघुपति भगवति सुमङ्गलमूला नभसराहि सुर नरसहि फूला अह समनिपत नीच को बड़ बशिष्ट समय को जगमाही फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे वे कहने लगे जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है जही लख लख न होते अधिक मिले मुदित मुनिरा सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभा जिस निषाद को देखकर मुनिराज मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवारा जो जहि भाय राय भासे तहि तहि के सानुज मिले पल महु सब कि न दूरे दुख दारुण दाहो यह बड़ी बात राम कै नाहे जिम घट कोटे एक बिछाए दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस उसका उस उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है मिल के वटहे उमगे अनुरागा पुरजन प्रकर सराह भागा देख राम दुखित महतारे जनु सुबेलियव प्रथम राम रामके सरल शोभाय भगतिमति भग परन् प्रबोधु काल करम विधि समस्त पुरवासी प्रेम में उमग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो सबसे पहले राम जी कैकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी भेटे रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितो अब ईस अम्ब ईस आधे न जगो काहुन दे दो फिर से रघुनाथ जी सब माताओं से मिले उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता जगत ईश्वर के अधीन है किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए